और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस दिन आठ फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे